फिर उनकी तमाम बुराइयां इन पर आ पड़ी और इनमें से भी जो गुनाहगार हैं उनकी की हुई बुराइयां भी अब इन पर आ पड़ेंगी ये हमें हरा देने वाले नहीं